फिर जब सूर फूंका जाएगा तो उस दिन न इनके दरमियान रिश्ते नाते बाकी रहेंगे और न कोई किसी को पूछेगा